जीत फिक्स अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता लेकिन अकेला इंसान दुनिया बदल सकता है अकेला टायर हजारों किलोमीटर नहीं तय कर सकता लेकिन अकेला इंसान बहुत आगे जा सकता है ऐसा क्या है जो एक अकेले इंसान में होता है और लोगों के गुच्छे में नहीं ऐसा क्या है जो अकेले इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए लात मारता रहता है ऐसा क्या है जो कभी कभी अकेले इंसान को इतना महान बना देता है कि वो अपना बहुत बड़ा साम्राज्य कायम कर देता है जब भी हम किसी महापुरुष का नाम लेते हैं तो वो नाम उसी का यानी कि एक ही शख्स का होता है उसका अकेलापन उसको उसके अंतर मन से मिलाता है वो अकेला इंसान उस काम को नहीं करता जो उसको आता है वो अकेला इंसान उस काम को करता है जो उसके लिए उस पल जरूरी होता है अब चाहे वो काम उसका वजूद बनाए रखने के लिए जरूरी हो या उसकी जीत फिक्स करने के लिए अकेले इंसान को पता होता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला इसलिए वो औरों से उम्मीद करना छोड़ देता है उसको पता होता है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो पीछे आ रही भीड़ उसको कुचल देगी और यही दूसरा दूसरों से उम्मीद ना करने वाली क्वालिटी ही उस अकेले इंसान को मजबूत बनाती है उसको आगे बढ़ने के लिए लात मारती है जब हम इस दुनिया में अकेले आए थे तो उसके साथ साथ हमें एक बात बताई गई थी कि सुन मुसाफिर तुझे अकेला इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि तू आएगा भी अकेले ही चाहे तुझे कोई कितना भी चाहने वाला हो चाहे तेरे कितने ही दोस्त और रिश्तेदार हो कोई भी तेरा अंतिम विदाई के वक्त साथ नहीं निभाएगा इसलिए तू अकेले चलना सीखना अकेले गिर के संभलना सीखना गिरते रहना लेकिन आगे बढ़ते रहना लेकिन अफसोस कि हम उस चीज को तभी भूल जाते हैं जब हमें थोड़ी समझ आना शुरू होती है हम बड़े होते होते इस दुनिया के सुखों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अकेला रहना पसंद ही नहीं होता हम किसी को मिस करना शुरू कर देते हैं लेकिन जो असली विजेता होता है वो ऊपर वाले की इस बात को याद रखता है कि मुझे अकेला भेजा है तो शायद अकेले ही कोई बड़ा काम करने के लिए भेजा गया था अगर मुझे अकेले भेजा है तो मुझे अपने आप को दुनिया में खोने से बचाना है वो अपने जिंदगी के मकसद को पहचानने करने के चक्कर में खुद को पूरा स्कैन करता रहता है इस दुनिया को स्कैन करता रहता है लेकिन भीड़ में खोता नहीं है बल्कि अपनी अकेले की ताकत को याद रखता है हर बार की तरह इस बार भी कहूंगा कि जीत फिक्स को सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी है लेकिन इसके साथ ही साथ अपने अकेलेपन को सबसे बड़ा हथियार बनाना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है जय हिंद वंदे मातरम did fix.